भगवान वासुदेव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मनु ने भगवान विष्णु से कहा हे पुंडरीकाक्ष उस देव निर्मित दुर्जय माया को पार करने वाला तीनों कालों में यदि कोई हुआ हो तो उसे आप बतलाइए तदंतर मुनि द्वारा पूजित भगवान ऋषिकेश ने उन मुनियों से कहा इंद्रद्युम्न नाम का द्विजातियों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था ऐसा सुना गया है पूर्व जन्म में वह शंकर आदि देवताओं से भी अजय राजा था मैंने कुर्म अवतार धारण किया है यह जानकर तथा स्वयं मेरे मुख से दिव्य पुराण संहिता को सुनकर वह राजा इंद्रद्युम्न मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा शिव और अपनी अपनी शक्तियों के साथ अन्य सभी देवताओं को मेरी ही शक्ति में प्रतिष्ठित समझकर मुझे देखने के लिए मेरी शरण में आया इसके बाद मैंने कहा इंद्रद्युम्न तुम ब्राह्मण की योनि में उत्पन्न होोगे तुम्हारा इंद्रद्युम्न यह नाम प्रसिद्ध होगा और तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करोगे हे अनघ मैं तुम्हें सभी प्राणियों तथा देवताओं के लिए भी अज्ञात एवं अत्यंत गूढ़ रूप से कहने योग्य है उस ज्ञान को प्रदान करूंगा उस मेरे ज्ञान को प्राप्त कर तुम अंत समय में मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे और अपने ही अंश से दूसरे रूप में तुम पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहो वैवस्वत मनवंतर के व्यतीत हो जाने पर तुम अभीष्ट कार्य के लिए मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे भगवान ने पुनः कहा मुनि श्रेष्ठों मुझे प्रणाम कर वह राजा अपनी नगरी में गया और पृथ्वी का पालन पोषण करने लगा यथा समय मृत्यु होने पर वह मेरे स्थान श्वेत दीप को प्राप्त हुआ और वहां मेरे साथ योगियों के लिए भी अलभ्य दिव्य वैष्णव भोगों को भोग कर पुनः मेरी आज्ञा से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ जिसमें अविनश्वर गूढ़ स्वरूप वाली विद्या एवं अविद्या ये दोनों प्रतिष्ठित हैं तथा जिसे ज्ञानी जन परब्रह्म के नाम से जानते हैं उस वासुदेव नाम वाले मुझे जानकर इंद्रद्युम्न ने व्रत उपवास नियम होम तथा ब्राह्मणों की संतुष्टि आदि उपायों द्वारा सभी प्राणियों के एकमात्र आश्रय परमेश्वर की आराधना की वह उन्हीं की मंगल कामना करते हुए उन्हीं को नमस्कार करता था उनमें ही उसकी अनन्य निष्ठा थी तथा वह उन्हीं के आश्रित होकर योगियों के हृदय प्रदेश में विराजमान रहने वाले महादेव की आराधना करने लगा उसके इसी प्रकार आराधना करते हुए एक दिन वैष्णवी शक्ति ने भगवान विष्णु से प्रादुर्भूत हो दिव्य स्वरूप उसे दिखलाया भगवान विष्णु की प्रिया देवी विष्णु प्रिया का दर्शन कर उसने सिर झुकाकर विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और विविध स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर कहा इंद्रद्युम्न ने कहा वैष्णव चिन्हों वाली मंगलमयी तथा विशाल नेत्रों वाली हे देवी आप कौन हैं आपका जो यथार्थ स्वरूप हो उसे इस समय मुझे बतलाइए इंद्रद्युम्न के वचन सुनकर अत्यंत सुप्रसन्ना सुमंगला वह देवी विष्णु का स्मरण कर उस प्रिय ब्राह्मण से हंसती हुई बोली मैं उन विष्णु की प्रकृति स्वरूपा परामाया हूँ मुझ अद्वितीय नारायण स्वरूपा नारायणी को मुनि तथा इंद्र आदि देवता भी नहीं देख पाते हैं सूक्ष्म विचार करने पर मुझ में और नारायण में कोई भेद नहीं दिखता मैं उनकी प्रकृति रूपा हूँ वे विष्णु पर ब्रह्म हैं परमेश्वर हैं समस्त भूत प्राणियों के आश्रय भूत उन परमेश्वर की जो ज्ञान योग अथवा कर्म योग द्वारा यहाँ आराधना करते हैं ऐसे भक्तों पर मेरा कोई वश नहीं चलता अतः तुम कर्म योग का आश्रय लेते हुए ज्ञान के द्वारा उन आदि और अंत से रहित अनंत भगवान विष्णु की आराधना करो इससे तुम मोक्ष प्राप्त करोगे ऐसा कहे जाने पर अत्यंत बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ उस इंद्रद्युम्न ने देवी को विनय पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पुनः कहा हे परमेश्वरी देवी शाश्वत अखंड तथा अच्युत सबके स्वामी उन भगवान को किस प्रकार जाना जा सकता है यह मुझे बतलाइए ब्राह्मण इंद्रदुम्न के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कमल में निवास करने वाली देवी ने उस मुनि से कहा साक्षात नारायण ही तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करेंगे तदंतर प्रणाम करके उस मुनि इंद्रदुम्न को अपने दोनों हाथों से भली भांति स्पर्श कर वे देवी परात्र विष्णु का स्मरण करती हुई वहीं अंतर ध्यान हो गईं इंद्रद्युम्न भी शरणागत के दुखों को सर्वथा दूर कर देने वाले ऋषिकेश भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए दीर्घकालीन समाधि में निरत होकर आराधना करने लगा तत्पश्चात बहुत समय बीत जाने पर पीतांबरधारी जगन मूर्ति महायोगी भगवान नारायण उसके सामने स्वयं प्रकट हो गए अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु को आया हुआ देखकर घुटनों के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वह गरुड़ध्वज देव की स्तुति करने लगा इंद्रद्युम्न ने कहा हे यज्ञों के स्वामी अच्युत गोविंद माधव अनंत केशव कृष्ण विष्णु तथा ऋषिकेश आप विश्वात्मा को नमस्कार है पुराण पुरुष विश्व मूर्ति हे हरि आप सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के मूल कारण हैं आप अनंत शक्ति संपन्न हैं आपको नमस्कार है आप निर्गुण स्वरूप हैं निष्कल और विमलात्मा हैं आपको नमस्कार है हे विश्वरूप पुरुष आपको नमस्कार है विश्व की योनि वासुदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है आप आदि मध्य तथा अंत से रहित ज्ञान द्वारा जानने योग्य हैं आपको नमस्कार है निर्विकार तथा प्रपंच रहित आपको नमस्कार है भेद अभेद से रहित आनंद स्वरूप आपको नमस्कार है संसार सागर से पार उतारने वाले शांत स्वरूप आपको नमस्कार है शुद्धात्मा आपको नमस्कार है आप अनंत मूर्ति वाले हैं अमूर्त हैं आपको बार-बार नमस्कार है आप परमार्थ रूप हैं आपको नमस्कार है आप माया से अतीत हैं आपको नमस्कार है ईशु के भी ईश आपको नमस्कार है परमात्मा पर ब्रह्म रूप आपको नमस्कार है अत्यंत सूक्ष्म रूप आपको नमस्कार है देवों के भी देव महादेव आपको नमस्कार है विशुद्ध स्वरूप शिव आपको नमस्कार है परमेष्ठी स्वरूप आपको नमस्कार है आपने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है आप ही परम गति हैं हे पुरुषोत्तम आप ही सभी भूत प्राणियों के पिता हैं और आप ही सबकी माता हैं आप अविनाशी हैं परम धाम है चित्त स्वरूप है व्योम है निष्कल है सबके आधार है अव्यक्त है अनंत है तथा तन से सर्वथा रहित नित्य प्रकाश स्वरूप है ज्ञानी जन केवल ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा जिस परमात्मा का दर्शन करते हैं मैं आपके उस रूप की शरण ग्रहण करता हूँ वह विष्णु का परम पद है इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्रद्युम्न का सभी प्राणियों के आत्म रूप भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथों से किंचित मुस्कुराते हुए स्पर्श किया भगवान विष्णु के द्वारा स्पर्श करते ही मुनि श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न को उन भगवान की कृपा से परम तत्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया इसके बाद अत्यंत प्रसन्न मन से इंद्रद्युम्न ने प्रफुल्लित कमल के समान नेत्र वाले धारी अच्युत भगवान जनार्दन को प्रणाम कर कहा हे पुरुषोत्तम आपकी कृपा से मुझे परमानंद की प्राप्ति कराने वाला एकमात्र ब्रह्म संबंधी संदेह रहित ज्ञान प्राप्त हो गया है हे भगवन हे वासुदेव हे वेधा आपको नमस्कार है हे योगेश हे जगन्मय मैं क्या करूं उसे आप मुझे बतलाइए दिन के वचन सुनकर माधव भगवान नारायण ने समस्त संसार के कल्याण की कामना से मुस्कुराते हुए यह वचन कहा